हेलो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है में दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा पिछले सप्ताह इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे लेजेंडरी गीतकार अमित खन्ना सर और हमने सुने थे उनकी पसंद के पाँच गीत और उनसे जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी बातें हमसे शेयर करी थी अमित खन्ना सर ने खुद जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अमित जी के चुने हुए दस गीत आपको सुनाएंगे तो यानी कि पांच और गीत अभी सुनने बाकी हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम वही पांच गीत सुनेंगे साथ में हमारे साथ होंगे हमारे खास मेहमान अमित खन्ना सर तो अमित जी आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में एक बार मेरा फिर आप सब लोगों को नमस्कार आज आपसे फिर अपनी बातचीत का सफ़र जारी रखेंगे और आपको कुछ और गीत जो मैंने लिखे हैं वो आज सुनवाऊँगा उम्मीद है कि ये भी गीत आपको पसंद आएंगे और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे अमित जी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अब तक हम सुन चुके हैं पांच आपकी पसंद के गीत तो आप बताइए कि छठा गीत कौन सा आप हमें सुनवाने जा रहे हैं और क्या आपकी यादें हैं इस छठे गीत के साथ जुड़ी हुई ये गीत जो है अब आपको मैं सुनवाने वाला हूँ ये लता जी ने गाया है फिल्म स्वामी से जिसमें गिरीश कर्नाड और शबाना आजमी थे और बासु चैटर्जी ने निर्देशित किया था इस फिल्म को और इसके इसका संगीत बहुत ही मधुर था जो राजेश रोशन ने दिया था सब गाने इसके मकबूल हुए थे और ये गीत तो ख़ास तौर पे आ, बहुत पसंद किया गया था इसके लिए मुझे बहुत मुबारक भी मिली थी लता जी ने कितनी खूबसूरत से खूबसूरती से ये गीत गाया है ज़रा सुनिए और मुझे बताइए अमित जी अक्सर कहा जाता है कि कलाकार जो होते हैं वो व्यवसाय में यानी कि मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं मतलब वो कहते हैं ना राइट माइंडेड और लेफ्ट माइंडेड आदि और बहुत विरले होते हैं जो दोनों पक्षों में ही दक्ष निकलते हैं यकीनन आप उनमें से एक हैं कभी ऐसा होता है कि व्यापार कला पे भारी पड़ जाता है या इसके उलट कला व्यापार पे भारी पड़ जाती है क्योंकि आपने दोनों को ही इतने अच्छे ढंग से मेंटेन किया है और जो आपने फिल्में बनाई भी हैं उनमें भी इतनी सेंसिटिविटी आपने रखी है तो कैसे मैनेज करते हैं आप ये जो राइट और लेफ्ट माइंड का जो कॉम्बिनेशन है ये महज एक इतफाक है कि मैं एक कलाकार होते हुए या लेखक होते हुए मैं बिजनेस से भी जुड़ा हूँ ये शुरू से हुआ है मेरा शौक जो है मेरे जो रुचि है वो काफ़ी विस्तृत रही है मैं हमेशा से अपना सोचने का दायरा बढ़ाता गया और मुझे अपने जो इमीजिएट वर्क एरिया था उसके बाहर भी इंटरेस्ट पैदा हो गए बस इस तरह शुरू हुआ और मैंने इस इसको करने के लिए कि एक साइड में मैं क्रिएटिव काम करूं और दूसरी साइड में बिजनेस का काम करूं और प्रोडक्शन का काम करूं उसके लिए मैंने एक आ, अपना जो वर्किंग स्टाइल था वो बदल दिया मैं मैंने दोनों को बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जब मैं क्रिएटिव काम करता था तो मैं केवल उसी पे मेरा ध्यान केंद्रित रहता था और जब मैं दूसरा कार्य करता था तो मैं उस पर पूरा ध्यान करता था लेकिन इसके लिए मुझे इस, बहुत समय देना पड़ता था मैंने अपने जीवन के 35-40 वर्ष लगातार रोज़ 16-16, 18-18 घंटे काम किया है और यही वजह है कि मैं हर तरह के कार्य के लिए समय निकाल लेता था अब ये तो वक्त बताएगा कि मैंने सही किया कि गलत ओके अमित सर आ, तो अब आगे बढ़ते हैं आप बताइए सातवां गीत कौन सा है अगला गीत जो मैं आपको सुनाने बजा रहा हूँ वो फिल्म और कौन से है जो रैमसे ब्रदर्स ने बनाई थी रैमसे ब्रदर्स के साथ आ, मैंने कई फिल्में लिखी और उनके गीत हमेशा पॉपुलर होते थे ये नगमा जो है किशोर दा ने गाया है बप्पी लहरी का संगीत है और बहुत ही सरल और साधारण धुन है सीधे बोल हैं और कितनी मीठे और सरलता से किशोरदा ने गाना गाया है यही इसकी विशेषता है के दिल खो गया किसी को न पता चला क्या हो गया ऐसी मिली नजर के दिल खो गया चुपके से वो पहलू में आ चुपके से वो वाह अमित सर क्या गाना आपने सुनवाया अब देखिए दोस्तों ये फिल्म जो है और कौन आ, मुझे लगता है कि आज के जनरेशन में तो किसी ने इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा पर ये गीत जो है वो आज भी रेडियो में खूब बजता है और आप इस गीत को जब भी सुनेंगे आपको इतनी फ्रेशनेस महसूस होती है ये है इन लेजेंडरी गीतकारों के संगीतकारों का और गायकों का काम जो हमें आज भी मतलब इन फिल्मों को हम लोग भूल चुके हैं इन फिल्मों के बारे में की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है बट ये गीत आज भी हमारे हमारे दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं ये है कमाल हमारे कलाकारों का और उनमें से एक ऐसे ही कलाकार हमारे साथ आज हैं the one and only legendary Amit Khanna sir Amit ji आपको एक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है और वो फिल्म है भैरवी तो ये ज़रूरी है कि इस लिस्ट में भैरवी का भी एक गीत हो तो भैरवी का गीत तो आप कौन सा सुनवाएंगे ये मैं जानना चाहता हूँ और जो गीत आप सुनाएंगे उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी आप हमें बताइए खास तौर पे क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसमें आपने लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी के साथ काम किया था जहाँ तक आ, मेरी जानकारी है हो सकता है शायद कुछ और भी फिल्में रही हों जो मैं नहीं जानता हूँ जिनके बारे में तो कैसा रहा एल के साथ काम करने का ये अनुभव आपका यहाँ तक एक फिल्म तो शुरू भी हुई थी लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाई तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मुझे लक्ष्मी जी और प्यारे जी के साथ काम करने की का मौका मिला और क्योंकि इस फिल्म की पृष्ठभूमि जो थी वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थी तो इसके सब जो गीत थे वो राग पे आधारित थे और जो मैं गीत आपको सुनवा रहा हूँ इसे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है और इसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था आ, बेस्ट लिरिसिस्ट गीत जिस तरह की पग डंडियों से गुजरते हुए हावों के जंगल में हम खो गए तार तरह दिल मिले कुछ इस तरह दो दिल मिले जैसे मिले सदियों के मीत सदियों के मीत सदियों के मीत सदियों के दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है एक मुलाकात ज़रूरी है और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बार फिर हैं गीतकार अमित खन्ना सर मैं गीतकार मात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे अमित जी के केवल एक पक्ष पर ही बात कर रहे हैं जो उनके लिखे हुए गीतों पर है तो हम सुन रहे हैं उनके लिखे हुए दस शानदार गीत और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हमें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अमित जी तो अब तक हम आठ गीत सुन चुके हैं अमित सर नौवा गीत कौन सा है आपकी पसंद का और उससे जुड़ी हुई कौन सी बातें आप हमें सुनाने जा रहे हैं ये नगमा जो है आज तक आपके कानों में गूंजता है हालांकि इसको रिकॉर्ड किए तकरीबन 35 वर्ष हो गए हैं ये आजकल तो ये आइटम सॉन्ग और डिस्को डांस और ये सब जो है पॉप सॉन्ग्स काफ़ी बज रहे हैं लेकिन ये उस वक्त अपने लिए अपने हिसाब से एकदम नया था आ, इसे ये लूट मार फिल्म से है जिसे देव साहब ने निर्देशित किया था इसमें देवानंद टीना मुनीम महमूद अमजद खान निरूपा रॉय सिंपल कपाडिया बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी और ये एक आइटम था फिल्म में और इस गाने के साथ अक्सर आशा जी अपने स्टेज शो शुरू करती हैं और आज तक ये गीत रेडियो पे सुनाई देता है या टीवी पे आपको अक्सर दिखाई देता है इसकी जो रिदम है इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो राजेश रोशन ने बहुत खूब किया है सुनिए जब छाए मेरा जाता अमित जी वैसे तो इतना कुछ है आपके बारे में बात करने के लिए और इतने अलग अलग तरह के काम आपने किए हैं कि सब पर हम एक एक एपिसोड बना सकते हैं आ, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हम सिर्फ आपके लिखे हुए गीतों पर बात कर रहे हैं और चुनिंदा सिर्फ दस गीत हम सुन रहे हैं आपके आ, आपके माध्यम से और जिसमें आप उन गीतों से जुड़े हुई कुछ बातें भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आ, लेकिन एक पक्ष आपका ऐसा है जिसके बारे में बात करनी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है वो है वो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों अमित जी एक गीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी हैं और इनका एक कविता संग्रह पहले ही प्रकाशित हो चुका है और दूसरा कविता संग्रह जल्द ही आने वाला है इसके अलावा अमित जी आ, इंडियन फिल्म और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर एक रिसर्च वर्क भी करने जा रहे हैं और इसके ऊपर ये किताब पूरी लिखने जा रहे हैं और अमित जी क्यों ना एक एक ज़रूरी पक्ष जो है आपका इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लें आपने कविताएं लिखी हैं मैं चाहता हूं कि आप कोई अपनी कविता संग्रह में से कोई एक कविता हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज़ सुनवा दें प्लीज़ फिल्मी गीत तो मैंने लिखना कई कुछ वर्षों से बंद कर दिया है लेकिन कविता से मेरा नाता अभी भी है और उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा जुड़ा रहेगा जैसा कि मैंने जिक्र किया है कुछ वर्ष पहले मेरा एक कविता संग्रह जिसका शीर्षक है अनंत राग वो प्रकाशित हुआ था इसका विमोचन दो तीन वर्ष पहले जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में तीन प्रख्यात लेखक जावेद अख्तर प्रसून जोशी और नीलेश मिश्रा ने किया था इसी कविता संग्रह की से एक छोटी संक्षिप्त कविता आपको सुनाता हूँ कविता का शीर्षक है याद दीवार पर लगी तस्वीरें तस्वीरों में छुपे लोग लोगों से जुड़ी यादें वक्त के अपने किस्से हैं जहन पर पड़ते हैं कहो तो धूल हटा दे वाह अमित जी बहुत खूब बहुत खूब अमित जी अब तक आपने नौ गीत सुनवाए हैं और दसवां गीत यानी कि आखिरी गीत होगा वो हमारे इस कार्यक्रम के लिए तो क्यों ना कोई आप ऐसा गीत सुनवाएं जो गैर फिल्मी हो क्योंकि गैर फिल्मी गीतों के लिए भी आपने बहुत काम किया है और लगभग 200 सॉन्ग्स आपने ऐसे लिखे हैं जिसको वर्ल्ड ओवर आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया है तो उनमें से कोई एक गीत आप चुने और उस गीत से जुड़ी हुई कोई बातें अगर है तो वो हमसे शेयर कीजिए प्लीज़ फिल्मी गीतों के साथ मैंने अस्सी के दशक में कम से कम दस बारह एल्बम सुगम संगीत की जिसमें पॉप म्यूज़िक और वर्जन रिकॉर्डिंग्स थी इंटरनेशनल ग्रुप्स की जैसे आबा बोनी एम तो इन सब ये मैंने गीत लिए थे इनकी ज़्यादातर रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी और कई उभरते हुए संगीत गायकों ने इसे गाया था सलमा आगा शारन प्रभाकर मुसरत नज़ीर और इसमें मुझे कई नाजिया हसन जोहेब हसन इन सब से मिल के साथ काम करके मुझे बहुत आनंद आया था ये एकदम नए ज़माने के लोग थे नई ज़माने की भाषा थी और उसकी जो साउंड थी वो भी नई थी उस समय कई मशहूर जो संगीतकार थे जैसे बिदू और इंग्लैंड के पीटर मॉस इन सब के साथ मैंने काम किया और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा इन्हीं गीतों में से एक गीत आप सुनिए आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा गैर फिल्मी सफ़र में का एक नमूना भी पसंद आएगा जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ जरा चेहरा से पहले अमित सर आप इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने अपना समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमने दस गीत आपने सुनाए और उनसे जुड़ी हुई इतनी सारी बातें हम लोगों से शेयर की साथ ही मेरे कुछ उल्टे सीधे सवालों के भी आपने जवाब दिए इतना पेशेंस दिखाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी खुशी हो रही है मुझे और मैं नहीं चाहता हूँ इस कार्यक्रम को यहाँ पर ख़त्म करना आ, पर हमारी मजबूरी है आपकी मजबूरी है हमें आ, इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देना पड़ेगा एक बार फिर पूरी रेडियो प्लेबैक इंडिया की टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत आभार आभार धन्यवाद तो फिर आज के लिए बस इतना ही मुझे बहुत खुशी हुई आपसे उनसे बातचीत करके और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द फिर से मौका मिलेगा कि मैं आपको संबोधित कर सकूं और आपके साथ अपनी कुछ यादें अपनी स्मृतियाँ अपने कुछ गीत कुछ आप बीती सुना सकूं और बांट सकूं हमेशा खुश रहिएगा व्यस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा तो दोस्तों ये थे अमित खन्ना सर और उन्हीं की ज़ुबानी उनके लिखे गीतों की कहानी सुनना आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा मुझे तो कम से कम ये लगता है कि मेरा ये कार्यक्रम करना आज सफल हो गया कि मैं इतने बड़े कलाकार से आज रूबरू हो पाया आ, दोस्तों अगले सप्ताह मैं किसी नए कलाकार को लेकर आपसे फिर मुखातिब हूँ तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए नमस्कार ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना